और उन्होंने अल्लाह ताला की कदर नहीं पहचानी जैसा उसकी कदर पहचानने का हक है जब उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने किसी इंसान पर कुछ भी नाजिल नहीं किया आप कहें वो किताब किसने उतारी थी जो मूसा लेकर आए थे जो इंसानों के लिए रोशनी और हिदायत थी तुम उसे चंद वर्क बनाते हो उसमें से कुछ जाहिर करते हो और बहुत कुछ छुपा जाते हो और तुम्हें वो कुछ सिखाया गया जिसे ना तुम जानते थे और ना तुम्हारे बाप दादा آپ کہیں اللہ تعالیٰ ہی نے پھر آپ ان کو چھوڑیں وہ اپنی بحثوں میں کھیلتے رہیں